चुनाचे उन्हें उनके बुरे आमाल की खराबियां पहुंची और उनको घेर लिया उस चीज ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे